क्या विक्रांत ने अपने हाथ में लिया हुआ मोबाइल फोन टेबल पर रख दिया और फिर बड़ी उत्सुकता से अपनी माँ की तरफ देखने लग गया आपको इस कोडवर्ड की पहेली के बारे में पता है दरअसल विक्रांत ने अपनी डायरी में जहां पर अदृश्य शक्ति द्वारा कही जाने वाली पहेलियां लिखी थी उसे ही उसकी माँ ने देख लिया था और वो उन्हीं पहेलियों की बात कर रही थी विक्रांत को आज तक अदृश्य शक्ति की इन पहेलियों का मतलब समझ में नहीं आया था वो रोजाना इसे समझने की कोशिश किया करता था शुरू शुरू में तो वो इन पहेलियों के पीछे की कहानी समझने के लिए पागल था बहुत कोशिश की उसने लेकिन कुछ भी समझ नहीं आया बड़ी मुश्किल से ही उसे बस कुछ कोडवर्ड का मतलब समझ में आया था वो भी विक्रांत ने धीरे धीरे ऑब्जर्व करके अनुमान लगाया था इन्हीं कोडवर्ड के जरिए वो दिन भर में होने वाले टास्क का अनुमान लगाता था आज तक उसने किसी से अदृश्य शक्ति का खुलकर जिक्र भी नहीं किया था इसलिए उसके लिए ये सब अभी तक रहस्य बना हुआ था लेकिन ये भी महज इतफाक ही है कि जिस पहेली को समझने के लिए विक्रांत इतने दिनों से परेशान था उसका मतलब उसकी माँ ही उसे समझा देंगी विक्रांत ने अपनी माँ से उत्सुकता वश सवाल किया माँ तुम्हें इस पहेली के बारे में कैसे पता चला क्या जानती हो तुम इसके बारे में ये ऐसी पहेलियां मैंने पहले भी कहीं पढ़ी हैं ये तेरे नाना जी थे ना उनके पास एक किताब थी वो शायद उन्होंने ही लिखी थी तुझे तो पता ही है तेरे नाना जी ज्योतिष थे वो बहुत मशहूर ज्योतिषाचार्य थे उनसे मिलने काफी बड़े बड़े लोग भी आया करते थे हाँ हाँ माँ पता है मुझे नाना जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे बट आप ये बताओ कि इस पहेली के बारे में आप क्या क्या जानते हैं विक्रांत का पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ अपनी पहेली का हल निकालने में लगा हुआ था तेरे नाना ने ग्रह नक्षत्र पर एक किताब लिखी थी उस किताब के जरिए वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही सटीक भविष्यवाणी किया करते थे उन्होंने पूरी किताब हाथ से ही लिखी थी उसे छपने के लिए भी नहीं दिया था कहते थे कि इस किताब का राज किसी के पास नहीं जाना चाहिए वन लोग इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे माँ ने कुछ घबराते हुए लफ्जों में कहा मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तब एक बार अचानक से मैं उनके कमरे में चली गई थी और फिर मैंने उनकी ये किताब देख ली थी उनसे इस किताब में लिखी पहेलियों के बारे में पूछा था तब उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत बताया था क्या क्या बताया था आपको विक्रांत ने सवाल किया मुझे ज्यादा कुछ याद तो नहीं है लेकिन इतना पता है कि उसमें कुछ जीवन के तथ्यों के बारे में बात की गई थी जैसे अग्नि जल आकाश धरती और इन्हीं तत्वों की मदद से भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में वो भविष्यवाणी करते थे इस किताब में भी वो ही शब्द लिखे हुए थे जो तेरी डायरी में थे उसमें भी पहाड़ नदी और झरने की बात की गई थी लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इन सब का मतलब समझने के लिए नाना जी को काफी गणनाएं करनी पड़ती थी इन सब का वास्तविक मतलब कुछ और ही था अच्छा ये ये किताब कहाँ है कहाँ मिलेगी मुझे ये किताब किसके पास होगी विकनाथ ने सवाल किया अब तेरे नाना जी तो रहे नहीं तो अब पता करना पड़ेगा किताब कहाँ रखी हुई है माँ ने कहा लेकिन तुझे इन सब के बारे में कहा से पता चला तू ज्योतिष के चक्कर में पड़ा हुआ है क्या अरे नहीं वो मुझे एक केस सॉल्व करना है उस पर काम करने के लिए मुझे इन शब्दों का असली मतलब जानना है मुझे आप बताओ कहाँ से इसके बारे में पता चलेगा विक्रांत ने कहा अच्छा अरे वो तो मामा जी के पास होगी ना नाना जी की लिखी किताब उन्हीं के पास होगी ना ना मतलब उनका किसी काम के नहीं है वो बस लोगों को बेवकूफ बनाना यही धंधा भी है उनका तेरे नाना जी का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं बस उनसे तो मैं कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहती माँ ने भड़कते हुए कहा अच्छा अच्छा फिर कुछ याद करो विक्रांत ने माँ को शांत कराते हुए कहा कहीं से कुछ भी याद आए तो बताओ मुझे बहुत जरूरी है मेरे लिए ये सब कैसे भी करके मुझे इसका मतलब जानना है याद करो कैसे भी करके कुछ बताओ विक्रांत ने माँ को समझाते हुए कहा बेटा माँ ने कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहा जहाँ तक मुझे याद है नाना जी ने कुछ बहुत प्राचीन किताबों को पढ़कर उसका सारांश अपनी इस किताब में लिखा था कुछ किताबें तो हजारों साल पुरानी थी इसमें और बहुत दुर्लभ किताब थी तेरे नाना जी को उनके गुरु ने ये किताब दी हुई थी उनके और उनके गुरु ने उन्हें भविष्य पढ़ने का कुछ ज्ञान भी दिया था उन्होंने जीवन के पांच तत्वों को मिलाकर कई तरह की अलग अलग पहलियां बनाई थी और इन पहेलियों को पढ़ने का अलग तरीका भी बताया था वो सब तरीका नाना जी ने अपनी किताब में लिखा था अब मुझे उतना याद नहीं है कि तुम्हारे नाना कैसे इस किताब की मदद से लोगों के भविष्य की सटीक भविष्यवाणी कर दिया करते थे ओ विक्रांत बड़े ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रहा था अब उसे पता चला कि अदृश्य शक्ति उसे जो पहेलियां देती है वो खास अदृश्य शक्ति की खोज नहीं है बल्कि ये सब प्राचीन विद्या और ज्योतिष से जुड़ी हुई चीजें थी ये जो पहली रोज मुझे अदृश्य शक्ति बताती है ये मेरे साथ भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही बता देती है लेकिन मुझे सिर्फ कोडवर्ड के बारे में ही पता है कोडवर्ड के सहारे ही मैं थोड़ा बहुत अपने साथ घटने वाली घटना के बारे में जान पाता हूँ लेकिन अगर मुझे इस पहले को समझना आ जाए तो हो सकता है कि मुझे आगे होने वाली सभी घटना का पहले से ही पता चल जाए हो सकता है कि मुझे और डिटेल में कुछ पता चल सके और ये भी हो सकता है कि मैं इस पहले की मदद से अपने भविष्य में कुछ बदलाव भी कर सकूं विक्रांत मन ही मन सोचने लगा बेटा पता नहीं कैसे तेरे नाना जी बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर दिया करते थे मुझे तो खुद भी ताज्जुब होता है आज मैं खुद विज्ञान पर यकीन करती हूँ मुझे ज्योतिष और भूत भविष्य की बातों पर भरोसा नहीं होता है लेकिन फिर भी तेरे नाना जी जो कुछ भी बताते थे वो ना जाने कैसे सब सही हो जाया करता था मुझे तो आज भी इसके बारे में सोचकर आश्चर्य ही होता है माँ ने आगे कहा अच्छा तो तू इन सब चीजों में कब से इतना इंटरेस्ट लेने लग गया पहले तो तू ये सब कुछ नहीं मानता था अरे माँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है बस मुझे एक केस पर काम करना है उसी के लिए ये सब जानना जरूरी है विक्रांत ने बात बनाते हुए कहा अच्छा आपको जो कुछ भी पता हो मुझे बताओ ना आप अभी बता रही थी ना कि नाना जी ने ग्रह नक्षत्र से जुड़ी एक किताब लिखी थी मुझे वो किताब चाहिए हाँ लिखी तो थी लेकिन तेरे दोनों मामा ने मिलकर उस किताब का क्या किया मुझे नहीं पता अच्छा आप कल मामा के पास फोन करना और उनसे उस किताब के बारे में पूछो विक्रांत ने कहा लेकिन तू इसके चक्कर में क्यों पड़ा है क्या करेगा ये सब जान के माँ ने सवाल किया अरे मुझे एक केस पर काम करना है उसी के लिए ये सब जानना है विक्रांत ने जवाब दिया आग लगे तेरी इस पुलिस की नौकरी को माँ ने चिड़ते हुए कहा जब देखो बस काम काम आराम भी नाम की कोई चीज है बस ये लोग काम ही करवाना जानते हैं अरे सुनो सुनो तो सही माँ विक्रांत ने जब देखा कि माँ उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रही है तब उसने दूसरा पैंतरा आजमाया माँ आपको पता है कि ये केस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है अगर मैंने ये केस सॉल्व कर लिया तो फिर मुझे पुलिस की तरफ से पचास हजार रूपए का इनाम मिलेगा और प्रमोशन अलग से क्या पचास हजार सच में माँ ने खुशी में झूमते हुए पूछा हाँ माँ पचास हजार लेकिन केस सॉल्व करने के लिए मुझे इस पहेली का मतलब अच्छे से समझना पड़ेगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा विक्रांत ने अब अपना पासा फेंका अच्छा तो मैं तेरे मामा को फोन करती हूँ रुक रुक तुरंत करती हूँ फोन उसे किताब के बारे में जरूर कुछ न कुछ पता होगा इतना कहते हुए माँ ने अपने फोन से तुरंत मामा जी के पास फोन मिला दिया विक्रांत उन्हें इतनी रात को फोन करने से रोकना चाहता था लेकिन वो इतनी एक्साइटमेंट में थी कि रात के दो बजे ही अपने भाई के पास फोन लगा डाला एक घंटे बाद विक्रांत ने बिस्तर पर पड़े पड़े ही जोर से अंगड़ाई ली उसने अपनी एक नींद पूरी कर ली थी अब जाकर माँ ने फोन रखा था और फिर वो भी सोने के लिए चली गई थी घर में बिल्कुल शांति छाई हुई थी अभी कुछ ही मिनट पहले विक्रांत को अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला था आज विक्रांत के सक्सेस रेट ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए थे आज उसका सक्सेस रेट 110 प्रतिशत रहा था विक्रांत को अदृश्य शक्ति की तरफ से दो तरह के खास टूल्स दिए गए थे पहला तो उसे एक मेमोरी डिवाइस मिली हुई थी जिसकी मदद से वो अपनी पुरानी बातें याद कर सकता था इस टूल की मदद से विक्रांत अपने पास्ट की उन सभी घटनाओं को याद कर सकता था जो उसके दिमाग में उतर चुकी हूँ दूसरा टूल एक तरह की दवाई ही थी इस टूल की मदद से वो शरीर में कहीं भी चोट लगने पर वहां से बहने वाले खून को बंद करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था विक्रांत का ये टूल बहुत काम का था इस टूल की मदद से वो एक तरह से किसी दुर्घटना के समय खुद की जान बचा सकता था कुल मिलाकर ये दोनों ही टूल्स विक्रांत के लिए बहुत काम के थे इतने दिन से अदृश्य शक्ति के तरह तरह के टूल्स हासिल करने के बाद विक्रांत को एक चीज का अनुभव तो हो गया था अदृश्य शक्ति ने आज तक विक्रांत को जितने भी टूल्स दिए हैं वो सभी सिर्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं आज तक विक्रांत को अदृश्य शक्ति द्वारा कोई भी ऐसा टूल नहीं दिया है जिसकी मदद से वो किसी के ऊपर अटैक कर सकता है अब तक उसे ना तो कोई गन या फिर कोई ऐसा टूल मिला था जिससे वो किसी को नुकसान पहुंचा सके अदृश्य शक्ति उसे सिर्फ ऐसा ही टूल देती है जिसकी मदद से वो खुद की जान बचा सकता है या सिर्फ खुद की सेफ्टी रख सकता था इसका मतलब कि अदृश्य शक्ति किसी भी हालत में विक्रांत से कोई हिंसा या गलत काम नहीं करवाना चाहती थी यानी कि अदृश्य शक्ति ने विक्रांत को टूल्स सिर्फ इसीलिए दिया है ताकि वो गलत होने से बचा सके ना कि खुद कुछ गलत कर सके अदृश्य शक्ति सिर्फ विक्रांत को सुरक्षित करती है विक्रांत को अब तक अदृश्य शक्ति के द्वारा कही जाने वाली पहेलियों के बारे में भी थोड़ा बहुत पता चल चुका था लेकिन अभी भी उसे इस पहेली को पूरी तरह से समझने के लिए काफी प्रयास करना होगा लेकिन एक बार अगर विक्रांत को इस पहेली का पूरा मतलब समझ में आ गया तो हो सकता है कि वो भविष्य में और अच्छे से काम कर सके और हो सकता है कि इस पहेली को समझने के बाद वो अदृश्य शक्ति के संदेश को और अच्छे से समझ सके और फिर उसे भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं का पहले से ही पता चल जाए विक्रांत थोड़ी देर तक अदृश्य शक्ति के बारे में सोचता रहा और फिर अचानक से उसे केस के बारे में ख्याल आया वो कुछ पल तक रोनित बनर्जी के बारे में सोचता रहा और फिर अचानक से उसका ध्यान नैना के ऊपर चला गया नैना का ख्याल आते ही विक्रांत के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान छा गई उसने कभी सोचा नहीं था कि वो एक दिन नैना के इतना करीब आ जाएगा कहा नैना उसके नाम से ही दूर भागती थी और कहा अब नैना भी विक्रांत को अपना अच्छा दोस्त मानने लगी है विक्रांत अब नैना से प्यार करने लगा है लेकिन अभी नैना के आगे अपने दिल की बात कहने की उसमें हिम्मत नहीं है विक्रांत ये बात अच्छे से समझता है कि प्यार का दर्द बहुत असहनीय होता है लेकिन फिर भी वो नैना के लिए ये दर्द उठाने को तैयार है